पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदश अध्याय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है जिसमें ऊर्धमूलम अरसाखम अस्वत्वम प्राहुरभयम इसकी व्याख्या भाष्य में टीका में होनी है थोड़ी सी व्याख्या भाष्यकार ने की है ऊर्धमूलम को व्याख्या की हुई है जिसमें श्रुति को भी लाकर कहा ऊर्धमूल अवाक्षाख ये स्वस्थ सनातन इत्यादि कठोपनिषद श्रुति को भी ला गया वहां भी ऊर्धमूल कहा है संसार को माने इसके मूल तत्व ऊपर है ऊपर माने उत्कृष्ट है ये निकृष्ट है संसार निकृष्ट है तुच्छ है और जिसमें कल्पना हो रही है वो उत्कृष्ट है ये कहना है ऊर्धव तो ऊपर नहीं परमात्मा व्यापक है ऊर्ध्व अधा आदि शब्द प्रयोग नहीं होता न ऊर्ध्व शब्द का अर्थ उत्कृष्ट ये अर्थवाचक ने किया है तो टीका चल रहा था मान ऊर्धव मूल कैसे हो गया या मानी कैसे है कालतः तो है काल से भी सूक्ष्म है इसलिए ऊर्ध है देखो काल जो होता है वस्तु परिषद के घेरे में है पृथ्वी काला पृथ्वी न काल जो है पृथ्वी नहीं है भिन्न भिन्न है सिद्ध होता है वस्तु परिचिन्न है पृथ्वी से इतर सिद्ध होता है किंतु वो जो संसार का कारण मूल ब्रह्म है परमात्मा है और देश काल वस्तु किसी से भी परिचिन्न नहीं है सभी देश में है व्यापक है वो और काल परिचिन्न है किसके वस्तु परिचिन्न आ जाता है और परमात्मा वस्तु परिचिन्न सभी सभी वस्तु है उसमें कल्पना है वस्तु की और देश परिचिन्न भी नहीं सभी देश में है सभी काल में है तो इसलिए वस्तु परिचय का अभाव है वहां इसलिए सूक्ष्म है वो परमात्मा सूक्ष्म यही है वस्तु परिचन्नता वहां नहीं काल में वस्तु परिचन्नता है जो वस्तु परिचन्न होता है स्थूल होता है थोड़ा एक काल तो एक कहा था प्रथम काल तो सूक्ष्मोत्तम तदाह ये टीका में चल रही थी काल से सूक्ष्म कैसे ब्रह्म होता है मूल कैसे हो गया संसार का मूल काल परमात्मा या ब्रह्म माने सविशेष ब्रह्म है माया हाँ, विशिष्ट ब्रह्म है निर्विशेष नहीं है संसार का कारण शब्द आना है तो निर्विशेष नहीं होता सविशेष ब्रह्म तो कथम काल सूक्ष्मतम तत् वो जो ब्रह्म तत्व ऊर्धमूलम करके कहा ब्रह्म काल से सूक्ष्म कैसे प्रश्नात कारणत्वाद जो कारण होता है सूक्ष्म होता है कारणत्वाद भाष्यकार ने कह दिया उसका अर्थ कर दिया तत्व सिद्धि के लिए कारणत्व बोल दिया कारणत्वाद एक भाष्यकार कारण होने से कारण होने के कारण काल से भी सूक्ष्म है काल अन्य का तो कारण होता है हो सकता है नाम जनक काला जनवाम आश्रय होता ऐसा लिखा हुआ होता है तो जन्य पदार्थ जितने उसके होता है जनक काल किसी न किसी समय पर पैदा होना किसी है जगत का आश्रय भी माना है उसको किंतु तो? परमात्मा का जनक तो नहीं बनता ना काल परमात्मा पहले से विद्यमान है तो काल का भी जनक है इसलिए कारण है परमात्मा काल का भी कारण है एक कारणत्वात एक तदेव कथम प्रश्न उठता है तद कारण एवं कथम कारण कैसे बना परमात्मा काल का कारण कैसे हो सकता है तो प्रश्न उठा तो कहा कार्यापेक्षा नियत पूर्वभावित्व यह तो किया कार्य की अपेक्षा नियत पूर्वभावी नैयायिकों ने भी अर्थ किया है कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण जब जब कार्य होता है उसके पहले कारण रहता है उसी को कारण शब्द से बोलते हैं कार्य के ठीक पहले अवस्था में विद्यमान जो होगा उसको कारण कहा जाता है यही कहा कार्य नेता वृत्ति कारण यह भी यही है तदेव कथम प्रश्न उठा था कारण कैसे बनाओ प्रश्न उठा तो उत्तर दिया या नियत पूर्वभावी तो वही हुआ है कार्य की अपेक्षा से नियत पूर्वभावी होता है ब्रह्म कार्य बाद में होना है परमात्मा पहले है ईश्वर पहले है इसलिए उसको कहा गया उर्दू <clears throat> उर्दो करके कहा हुआ है ये कहा तो नित्य लगा हाँ, दिया क्यों कारण नित्य होता है कार्य बाद में उत्पन्न होता है कारण नित्य होता है नित्यत्व हेतु दिया कारणत्व की सिद्धि के लिए क्या दिया सूक्ष्मत्व की सिद्धि के लिए कारण बोला बस कारणत्व की सिद्धि के लिए नित्य नित्यत्व ये भाषा में कहा था नित्य होने से यही है तो कारण होगा जो नित्य होगा कारण होगा अनित्य होगा कार्य होगा व्यक्तित्व आपका यही है सर्वव्यापित्व तो उसका समाज सबके व्यापक है वो महतत्व से भी क्वा भी व्यापक है वो महतत्व भी उत्पन्न होना उससे महतत्व अहंकार पंचतन मात्रा मान एकादश इंद्रिया विषय सब बाद में पैदा होना है सबने महतत्व शुरू होता है सांख्य मत के आधार पर हाँ, वो महान है वो ठीक है सर्वव्यापित्व सबके सबके सब में व्याप्त है वो सर्वव्यापी होने से उत्कर्ष उत्कर्ष है ऊर्द्व का अर्थ तो उत्कर्ष वो परमात्मा ऊर्द्व मूल है संसार ऊर्द मूल वाला है ये कहना है संसार वृक्ष ऊर्द्व मूल वाला है ऐसे बोलना है हाँ, महत्वाच्य का महान है वो सर्वव्यापी होने से महान है महत्वाच्य भाष्य कहा था ऊर्धम उच्चते उर्व कहा जाता है ब्रह्म को यही है आय कहते हैं ऊर्धव माने ऊर्ध्व माने क्या है यहां ऊर्ध ऊपर परमात्मा ऊपर ऐसा अर्थ नहीं है ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर नहीं उच्छ्रितम ऊंचा है सबसे ऊंचा है कारण होने से महान होने से व्यापक है उच्छ्रितम माने उत्कृष्ट भी दिया हुआ उसका अर्थ ऊर्धव का अर्थ टीकाकार बोलते उत्कृष्ट है उत्कृष्ट है और ये निकृष्ट है जो संसार वृक्ष निकृष्ट है नीचे तो शाखा वाला है कहना है तस्य कूटस्थ तस्य कथम बोलता वो तो कूटस्थ होगा ना निर्लेप होगा निर्विशेष होगा ब्रह्म तो वह कैसे फिर वो मूल कैसे बनेगा संसार के कारण कैसे बनेगा वो तो कुटस्थ है असंग है कैसे होगा कहते नहीं माया विष्णु ब्रह्मया का उर्द मूल का उर्द शब्द का अर्थ माया विश्व बोलते हैं ये भाषण में कहा था टीका में पहले तस्य माने जो महत महत्व से कहा गया जो ब्रह्म है यहां वह कुटस्थ से हो तो कुटस्थ है ब्रह्म उर्दू शब्द का अर्थ कुटस्थ ब्रह्म के लिए है कथम बोला तो मूल कैसे बनेगा कारण कैसे बनेगा वो शंका आगे तो कहा अभ्यक्त इत्यादि कहा था हाँ। ब्रह्मागार ब्रह्म अव्यक्त माया शक्तिमत ये कहा अव्यक्त माया शक्ति वाला ब्रह्म है कौन सा ब्रह्म अव्यक्त माया शक्ति वाला ब्रह्म माने सविशेष ब्रह्म यहां ऊर्ध मूल में ऊर्ध शब्द का अर्थ सविशेष ब्रह्म है निर्विशेष नहीं कुटस्थ ब्रह्म नहीं यहां सविशेष ब्रह्म लेना जिसको ईश्वर कहते हैं ये ऊपर मूल वाला कहा यही कहा यहां ब्रह्म माने अव्यक्त माया शक्तिवत ब्रह्म यही ब्रह्म शब्द का अर्थ अव्यक्त माया शक्ति वाला मूलम अश्य कहा है यही मूल है जिस संसार वृक्ष का मूल वही है वहीं से संसार वृक्ष की उत्पत्ति उत्पत्ति होनी है कहा स्मृति मूलत्व है ना श्रुति में उदाहरण दी जैसे स्मृति कहा स्मृति में मूर्त मूला अदशाखम स्मृति में है तो क्या प्रमाण है गीता में कहते श्रुति प्रमाण है श्रुति का अनुवाद है कठोपरिषद कहा यही बात कहा ये कह रहे हैं स्मृति मूलत्व तो न स्मृति का मूल कारण श्रुति यदि श्रुति में न हो तो स्मृति इस कारण कोई मानेगा नहीं स्मृति मूलत्व तो न श्रुति में उदाहरण दी स्मृति की जो भगवदगीता स्मृति है उसको मूल रूप से श्रुति का उदाहरण देते हैं भाषिका ऊर्द मूल अवक्षाख ये स्वसप्त सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवा मृत पुच्यते तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्य कथन पढ़ चलते हैं ये दिया हुआ है कहा तो अरबाक शाख कहा हुआ श्रुति में यहां भी अधा शाख बोलते हैं तो श्रुति में कहा हुआ जो अरबाक कहा हुआ है उसका अर्थ अरबाचो जो निकृष्टा शाखा अरबाचो जो निकृष्ट है शाखा जिसकी संसार वृक्ष की शाखा निकृष्ट है नीचे की तरफ है कहते अन्य वृक्ष कैसे होते हैं नीचे मूल होता है ऊपर शाखा होती है किंतु तो संसार वृक्ष का मूल तो होगा ईश्वर परमात्मा अव्यक्त माया शक्ति वाला ब्रह्म बने ईश्वर और बाकी जो शाखा ये जो महतत्वादि शाखा नीचे नीचे है ब्रह्म के नीचे है ईश्वर के नीचे महतत्वकारी है ना महातत्व महतत्व के नीचे है अहंकार अहंकार नीचे पंच तन्मात्रा फिर एकादश इंद्रिया फिर विषय नीचे नीचे है अदर शाखा वाला है ऊपर जड़ है इसका जल तो ईश्वर है इसका वहीं से उत्पन्न होना है मूल कारण वही है नीचे फैले हुए है शाखा नीचे है एक कहना है अरबाक्यो बड़ा निकृष्टा श्रुति में जो अरबाक शाखा कहा था उसका अर्थ नीचे की तरफ शाखा निकृष्ट है शाखा ये महादाध्याय जिस संसार वृक्ष को महादादि लोग बोलते हैं महातत्वादि जो है ये सब नीचे की तरफ है निकृष्ट है शाखा ये जैसे शाखा होती है उसी तरह मूल श्रेष्ठ होता है शाखा निकृष्ट होती है इस प्रकार महदादि जो है महतत्व अहंकार पंचतन मात्रा एकादश इंद्रिया पांच विषया जो चौबीस तत्व आदि मानते हैं संसार वृक्ष स्वरूप ही होता है यह है जिसके निकृष्ट है शाखा इसके कहा संसार वृक्ष कहा प्रकृति संसार वृक्ष पुराण समत कहा प्रकरण जो संसार वृक्ष की चल रहे ऊर्धमूला अवक्षाखा इसमें महाभारत की सम्मति भी है महाभारत में ही बात बोलता है कहते महाभारत में कहा हुआ इसी बात को ये कहना है पुराणे च कहा था पुराण में अव्यतमूल प्रभव तस्वा नवग्रहोथित बुद्धिस्कंद भय शैव इंद्रियांतरकोटर महाभूत विशाखश्च विषय पत्रवा तथा धर्मा धर्म सुकोश सुख दुख फलोदय आजीव्य सर्वभूता ब्रह्म वृक्ष सनातन एतद् ब्रह्मपरम चैव ब्रह्माचर्य नित्यश एतच्छिवा यत्वा च ज्ञान परमाशिना ततश्चात पर यशमान प्राप्त यस्मान वर्तते पुनः महाभारत में दिया है अश्वाय पर अव्यक्त मूल है उत्पत्ति कारण जिसके ये संसार वृक्ष की अव्यक्त मूल कौन प्रभव और उत्पत्ति कारण ऐसे है और तस्व अनुग्रह उत्थित उसी मूल के अनुग्रह से उत्पन्न है मूल के कृपा तो परमात्मा है अव्यक्त मूल परमात्मा है उसे उत्पत्ति है उसी के उत्पत्ति से खड़ा है ये उसी का अनुग्रह से खड़ा है कारण के अनुग्रह से ही कार्य की स्थिति होती है नहीं तो कार्य नहीं रहेगा मृतिका जब अनुग्रह करे तब तक घट रहेगा यदि मृतिका अनुग्रह कर छोड़े तो घट नहीं रहता उसी का अनुग्रह से खड़ा है एक संसार वृक्ष ऐसा है बुद्धि स्कंदमय है जब पेड़ बनने लग जाता है उसको कंद कहते हैं जो ऊपर की तरफ हो जाता है पेड़ बोलते हैं जिसको बढ़ने लगता है तो कंद कहते हैं उसको बुद्धि कंद सही चाहिए इंद्रियांतर कोट रहा इंद्रिय अन्य जो बीच बीच में छिद्र होते हैं पेड़ों में छिद्र में मानी पक्षियां रहती है इस प्रकार है इंद्रिया है सब वृक्ष में रहने वाली कोटर जो जहां पक्षी रहते हो या चक्षुरादि इंद्रिया जहां रहते हो खोखलापना है यहां वह एक कोटर वृक्ष में जैसे होता है उस प्रकार इंद्रिय का क्षेत्र जो है एक कोटर है कहा संसार दोष का महाभूत विशाखा शाखा अधर शाखा तो हो गया नीति का तरफ महदादि शाखा है इसकी बोल दिया आगे महाभूत विशाख पंच महाभूत बोलते पंचभूत माने अपंचीकृत तन्मात्रा जो भूत हैं उसके विशाखा विशेष शाखा प्रशाखा जिसको बोलते शाखा को प्रशाखा महादादी तो शाखा में है और उसमें फिर शाखा निकल गए कौन पंचभूत ये बोला मान महदादि के बाद में होने वाली जो पंचतन मात्रा है इसे कहा विशाखा माने विशेषता का विशाखा जो प्रशाखा शाखा प्रशाखा बोलते हैं यही है प्रशाखा का काम पर है विषय पत्रवान तथा कहते विषयों के द्वारा पत्ता वाला है संसार वृक्ष सामान्य वृक्षों में तो पत्ते होते हैं कि वृक्ष की रक्षा के लिए होते हैं ठीक इसी प्रकार ये संसार वृक्ष रक्षा करने वाला कौन है पांच विषय शब्द स्पर्श की स्पर्श करता ये पत्ते लगे हुए इसमें इसी से संसार विषय खड़ा है रहता है सुरक्षित होता है धर्माधर्म वृक्ष में पुष्प आते हैं तो इसमें भी पुष्प है धर्म और अधर्म भी पुष्प है संसार वृक्ष दो प्रकार के पुष्प है सुख दुख फलोदय अंत में परिणाम क्या आएगा सुख या दुख होगा फल जो जीवात्मा को भोग में आने वाला होता है संसार वृक्ष का फल सुख या दुख यदि धर्म किया हो तो सुख और पाप अधर्म किया हो दुख ये फल आएगा फल का उदय होता है संसार वृक्ष में सुख दुख आजीव्य आराम कहते हैं संपूर्ण प्राणी मात्र के जीविका के स्थान है ये जब तक जीवत्व जीवित है तब तक जीविका के स्थान संसार वृक्ष है ईश्वर का नरक आदि करते करते सब समय बर्बाद कर रहा है इसने आजीव्य आराम जीविका का स्थान है ये ब्रह्म वृक्ष सनातन ब्रह्म के द्वारा आश्रित होने वाला वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष बोला गया मूल कारण ब्रह्म है ईश्वर है तो सविशेष ब्रह्म है इसलिए इसको ब्रह्म वृक्ष कहते हैं ब्रह्म में आश्रित हुआ वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष कहा गया यह संसार वृक्ष ब्रह्म वृक्ष है ब्रह्म में आश्रित है और सनातन है माने कब से है कब तक है ये पता नहीं लगता परंपरा सनातन है अनादि है यद्यपि प्रत्येक शरीर आया और गया कोई भी स्थिर नहीं है यहां किंतु फिर भी यह सनातन है सनातन कैसे परंपरा जाना दूसरे का आना आना जाना जैसे बीज और वृक्ष जैसा है माने बीज भी शादी है नाशवान है उत्पत्ति होना है बीज की नाश भी होता है वृक्ष भी उत्पन्न होता है नाश फिर भी परंपरा अनादि है वृक्ष और बीज की परंपरा अनादि इस प्रकार यहां भी सनातन है निरंतर चलता रहता है संसार वृक्ष परंपरा अनादि है कहा ऐसा ब्रह्म वृक्ष है ये तद ब्रह्म वरम चाहिए वर्ण संभव तो धातु है संभजनीय ब्रह्म के ये स्थान है कहते हैं खेलने का स्थान जब तक जीव भाव में ब्रह्म होता है ना यही ब्रह्म आकर के विचरण करता है संसार में जब तक अपना ज्ञान नहीं होता उसको अज्ञान में होता है तब तक विचरण का स्थान है ब्रह्म का वन है ब्रह्मा सेवन का स्थान है वन संभव है भज धातु से भक्ति बनना है भज सेवायम धातु है से ब्रह्म के सेवन करने का स्थान है माने अपने रूप से नहीं जीव रूप से वही ब्रह्म जब संसार तत्सृष्टा तदैवान प्राविशत जब सृष्टि करने के बाद प्रवेश करता है तो यही इसके सेवन करने का यही रूपाधि विश्व का सेवन करता है उसका स्थान है यह तत् ब्रह्म बनम वन मने भजनीय है सेवनीय है ब्रह्म के द्वारा सेवनीय स्थान है जब तक अपना स्वरूप को जगह नहीं हुआ तब तक सेवन का स्थान है कहा ब्रह्म आचरित नित्य से निरंतर इसमें ब्रह्म आचरण कर रहा है घूम रहा है चल रहा है चल गति भक्षण चल जाती है गत्य ब्रह्म यही विचरण करता है कब तक जब तक अपने स्वरूप स्थित नहीं होता जीव रूप में होता है तब तक संसार पृष्ठ में घूमता रहता है स्वर्ग नरक आदि सब संसार पृष्ठ का स्वरूप है उसी में घूमता रहता है ये तत्वाच विद्वाच न परमाशिना गति इसको काटना है संसार वृक्ष को अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए छिपवा काट करके छेदन करके विद्वा मान फाड़ करके संसार पृष्ठ होता कौन सा परमाशिरा ज्ञान परम तलवार चाहिए असंग रूपी तलवार चाहिए उसी के द्वारा इसको काट कर ज्ञान रूपी तलवार है असंग होना चाहिए हम परमाश भाव में जाना चाहिए इसी के द्वारा आप आत्मनिधि प्राप्त है यह संसार पृष्ठ जो काटेगा फाट डालेगा परम ज्ञान के द्वारा परम फल का होना चाहिए ततः आत्मरुद्धि प्राप्त फिर आत्मा में प्रेम प्राप्त कर स्मानना आवर्तते पुनः कहा जिस आत्मा को प्राप्त करके फिर संसार में नहीं आता इसी ये कहा हुआ महाभारत यही है टीका में कहते हैं अव्यक्त मूल प्रभाव है ना उसका अर्थ कहते हैं टीका में अव्यक्तम मैंने अव्याकृतम तदेव मूलम तत्स्मात प्रभवनम प्रभवो ऐसा तथा कहा अव्यक्तम अव्यक्त माने अव्याकृत जिसको बोलते हैं ईश्वर भाव में जो माया विशिष्ट होता है ब्रह्म उसको अव्यक्त कहा तदेव मूलम वही मूल है ये संसार पृष्ठ का मूलम तस्मात पर होना उसी से उत्पन्न होना है इसको संसार पृष्ठ को जिस संसार पृष्ठ का अच्छा तथा कहा अव्यक्त मूल प्रभाव बहुगुरी समाज है बोल दिया तस्व मूल से जो मूल है अव्यक्त मूल है संसार पृष्ठ का उसी से उत्पन्न होना है अव्यक्त से जो अव्यक्त है मूल है अव्यक्त है उसका अनुग्रहात अति दृढ़ उत्थित अनुग्रह से ये खड़ा है कहते हैं संसार वृक्ष अति दृढ़ है जो अव्यक्त मूल है अति मजबूत है जिससे खड़ा है संसार वृक्ष स्थितवर संवर्धित उत्थितवर संवर्ध उसी से बड़ा हुआ है कारण ही न हो तो कार्य कैसे होगा तस्य लौकिक वृक्ष साधन जैसे लोक में वृक्ष होते हैं ना जैसे आम्रादि के वृक्ष है यहाँ उसके साधन में स्पह कहते हैं क्या है बुद्धि स्कंध कहते हैं वृक्ष में कंध होता है बड़े बड़े तने लग जाते हैं पहले बड़े बड़े शाखा निकलती है फिर प्रशाखा होगी तो यहां बुद्धि रूपी कंध है पहले महातत्व है कौन है उसी को बुद्धि कहा यहां पुराण में बुद्धि कहा गया महातत्व को मान जो अंकुर के बाद जो होगा उसको कंध कहा जाता है ऊपर जो वृक्ष बना है उसको कहा जाता है स्कंध या बुद्धि रूपी स्कंध महतत्व स्कंध है क्योंकि अव्याकृत के बाद में बहुत तत्व होना है वही स्कंध है बुद्धि स्कंदमय कंदमय कंद प्राय है इंद्रियांतर गोटर कोटर कहा हुआ है कहते वृक्ष से ही शाखा स्कंदाद उद्भवती कहते हैं वृक्षों में जो शाखा उत्पन्न होती है ना स्कंध से होते हैं पहले वृक्ष का डंठल बनेगा मूल बनेगा उसके बाद शाखा निकलेगी वृक्ष लौकिक वृक्ष में देखा है वृक्ष से ही शाखा कंदाद भगवत स्कंद से होते हैं संसार से और संसार किससे उत्पन्न होता है बुद्धि से जैसे वृक्ष की शाखा स्कंध से उसी प्रकार संसार कहां से होना है बुद्धि से इसलिए बुद्धि स्कंद में से कहा वो तो कंध के स्थान पर कहा संसार से बुद्धि सकाशात नाना परिणाम आ जाए थे संसार नाना परिणाम को उत्पन्न होता है बुद्धि के माध्यम से होता है किसके माध्यम से महतत्व तो होगा उसके बाद संसार होगा यही है तेना बुद्धि रे बुद्धि रे वह स्कंद तन्मय कहा इसलिए बुद्धि को ही यहां स्कंद शब्द से कहा गया बुद्धि को ही स्कंद कहा है बुद्धि माने महत्व तो लेना है यहां स्कंद तन्मय बुद्धि प्राय है माने मूल मूल के समान वही है वृक्ष के समान बुद्धि है कहा तत्प्रचुर हो जाए कहते बुद्धि प्रचुर है महत्व तो प्रचुर है संसार में अयम संसार तरु संसार रूपी वृक्ष उसी बुद्धि प्राय है इंद्रियाणाम अंतराणी छिद्राणी इंद्रियों में जो छिद्र है गोलक है तत्त छिद्र है इंद्रियों को बैठने का स्थान तत्त छिद्र है अंतर्वन छिद्र या इंद्रियांतर कोटर का अंतर्वन छिद्र इंद्रियों के रहने के लिए जो छिद्र है छिद्राणी कोटराणी ऐसे कोटर है मैंने पर है जिसका है मैंने संसार वृक्ष मैंने वृक्ष में खोखलापना होता है जिसमें चिड़िया निवास करती है ठीक इस प्रकार ये संसार रूपी वृक्ष में भी खोखले पना है कौन है इंद्रियों को जो खोखला पना है गोलक है वही है तो वही कोटराणी यश कोटर है कोटर माने खोखला पना होता है जो वृक्ष में होते हैं जिसमें चिड़िया निवास करती है उस प्रकार और महाभूत विशाखा से कहा था महाभूत और पंचभूत पंचतन मात्रा जिसको बोलते हैं वही है महाभूत महांति भूत आने पृथ्वी आदि ने आकाशांत आकाशांत आने महाभूत माने भूत नहीं है तन मात्रा भूत है वह विशाखा पर विशेष शाखा पहले एक शाखा हो गई अधस शाखा महत्व शाखा में आ गए वो बुद्धि स्कंद वो शाखा को ले लिया उसमें फिर प्रशाखा छोटी छोटी शाखा निकलते हैं जिसमें जिसमें पत्ते आदि लगते हैं छोटे शाखा भूता ने जो महान भूत हैं पृथ्वी आदि ने आकाशांत ने पृथ्वी से लेकर आकाश तक अपंचीकृत अवस्था के भूत महाभूत यही होते हैं विशाखा पर स्तंभा ऐसे कहते विशाखा मान स्तंभ है जिसके जिस संसार वृक्ष तथा महाभूत विशाखा ऐसे हो जाएगा संसार वृक्ष कहा आगे विशाखस्य विषय पत्रवार तथा कहा था विषयों के द्वारा पत्ते वाला हुआ है संसार वृक्ष पंच विषयों के द्वारा पंच विषय इसको रक्षा करते हैं संसार वृक्ष की शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श जो पांच विषय है संसार वृक्ष के रक्षक यही होते हैं जैसे लौकिक जो वृक्ष होता है पत्ते के द्वारा सुरक्षित रहता है ठीक इस प्रकार ये भी है पंचभूषण से सुरक्षित है संसार वृक्ष कहा हुआ है उसका अर्थ यह टीका भी नहीं है जो तो सरल है वो और धर्म इसका भी अर्थ टीका भी नहीं है धर्म और अधर्व वृक्ष पुष्प लगते हैं या दो प्रकार के पुष्प है संसार वृक्ष धर्म अधर्म भी पुष्प है और सुख दुख फल हो जाएगा उत्पत्ति माने संसार वृक्ष में दो प्रकार के फल मिलता है खट्टा मीठा फल बोलते हैं मीठा फल सुख और खट्टा फूल दुख खट्टा मीठा फल दो प्रकार के फल होते हैं यही है सुख दुख फल तो उत्पन्न होता है संसार वृक्ष में कहा दो तरह के फल लगते हैं वृक्ष आगे आजीव्य सर्वोदान इत्यादि दिया था उसका अर्थ टीका भी कहते हैं आजीव्यत्व मन उपजीव्यत्व ये जीविका का स्थान है सभी भूतों का प्राणी मात्र की जीविका स्थान संसार वृक्ष है इसमें जब तक अपना ज्ञान नहीं होता यहीं पर जीविका ले रहे लोग धर्मा धर्मादि कर्म करते हैं खट्टा मीठा फल भोगते हैं सुख दुख भोगते हैं फिर करते हैं फिर भोगते हैं यही चल रहा है जीविका का आश्रय है आजीवित्व माने उपजीवित्व उपजीविका है संसार वृक्ष जब तक जीवत्व रहेगा तब तक उपजीविका है ब्रह्मा अधिष्ठ वृक्ष ब्रह्म वृक्ष ब्रह्म में आश्रित जो वृक्ष होगा उसको ब्रह्म वृक्ष कहा गया आजीव सर्वतान ब्रह्म वृक्ष सनातन का संसार वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष बोला जो ब्रह्म के द्वारा ये आश्रित है स्थित है संसार सब प्रभु कहा इसको तथा तो ज्ञान बिना क्षेत्रों में शक्यतया फिर भी जब तक ज्ञान नहीं होगा अपना स्वरूप ज्ञान तब तक जैसा मैंने है कल्पना है फिर भी ज्ञान के बिना इसका नाश नहीं किया जा सकता आत्मज्ञान के बिना इसलिए चिरंतन बोल दिया है सनातन का अर्थ चिरंतन हमेशा है निरंतर है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तो इसका नाश नहीं किया जा सकता है इसलिए चिरंतन है बहुत लंबी आयु वाला है संसार वृक्ष सही है यह तथ्य ब्रह्मण पर से आत्मनो बनम ये ये वन है ब्रह्म के घूमने आदि का स्थान है ये कहते हैं ये ये जो वन ये तत् वनम ये जो वन है यह ब्रह्मण पर से आत्मनो वनम माने वननीयम संभजनीयम कहा अत्र ही ब्रह्म प्रतिष्ठित हम यही तो ब्रह्म प्रतिष्ठित संसार वृक्ष जीव रूप से प्रतिष्ठित यही है परमात्मा संसार वृक्ष यही आश्रित है अज्ञान काल में संसार वृक्ष में आश्रित है इसलिए ब्रह्म का वन कहा जाए तस्य वृक्ष से संसाराख्य वो जो ब्रह्म वृक्ष है संसार नामक ब्रह्म वृक्ष है इसमें तदेव ब्रह्मसार भूतम वो ब्रह्म ही सार है ब्रह्मा अधिष्ठित वृक्ष ब्रह्म वृक्ष ही है ब्रह्म ही सार है इसमें आगे वृक्ष जो असार है ब्रह्म ही सार है जैसे रज्जु और सर्प सर्प को देखते हैं तो रज्जु ही सार है सर्प असार है मिट्टी घट में देखे तो मिट्टी ही सार है घट असार है ब्रह्म ही सार है संसार दूषण ठीक है अथवा अथवा ऐसा ब्रह्म वृक्ष सनातन का ऐसा अर्थ करना ऐसा करना कहते हैं तो ये तत्व परम जैव ब्रह्माचर्य देश का ऐसा अर्थ करना अथवा अश्य ब्रह्म वृक्ष से जो ब्रह्म वृक्ष है ब्रह्म में आश्रित जो वृक्ष है ये जैसे घट मिट्टी में आश्रित है इस प्रकार जो वृक्ष है संसार वृक्ष ब्रह्म में आश्रित है सविशेष ब्रह्म में ये जो ब्रह्म वृक्ष है ब्रह्म वृक्ष से अनवश्यन व्यापक है संसार मंडल से जो व्यापक संसार मंडल है ये ब्रह्म वृक्ष है तदेतत ब्रह्मपनम वही ब्रह्म ही बन है भजनीय वही वस्तु है सेवनीय वस्तु वही है ब्रह्म ही है संसार नहीं कहा तदेव ब्रह्म बनम बनम एव बनम जैसे बन होता है उसी प्रकार बनम सेवन के समान है बननीयम सम भजनीयम क्यों बन संबल तो धातु है भजनीय तत्व ही है सेवनीय तत्व तो ब्रह्म ही है संसार नहीं है ये कहा नहीं ब्रह्मातिरिक्तम संसार से आत्मतम अस्थि ब्रह्म से अतिरिक्त संसार का कोई आश्रय है ही नहीं मृतिका के बिना कोई घट का आश्रय होता ही नहीं घट मृतिका में आश्रित होना पड़ता है इस प्रकार संसार का आश्रय ब्रह्म ही है उसे बिना अतिरिक्त आश्रय नहीं ब्रह्म ही अविद्या संसार तो ब्रह्म ही तो अविद्या के द्वारा संसार संसारी हो जाता है कौन होता है ब्रह्म ही होता है अज्ञान के अपने अज्ञान से संसारी बन रहा है जीवन तो भाष रहा उसमें इसलिए अहम ब्रह्म अब ज्ञान होगा यहां ज्ञान कैसा होना है ज्ञाने न परमाशिना कहा हुआ है महाभारत में परम अशी चाहिए तलवार विशेष तलवार ज्ञान रूपी तलवार चाहिए ये कहना है अहम ब्रह्म ये ज्ञान होना चाहिए दृढ़ ज्ञान है ना हम ब्रह्म कैसे दृढ़ ज्ञान मजबूत ज्ञान चाहिए किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो अहम ब्रह्म जैसे मैं मनुष्य हूं किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो रहा है हाँ, देहा देहात्म बुद्धि जितनी है इसी प्रकार उस आत्मा में आत्मबुद्धि हो जाए दृढ़ ज्ञान हो अहम ब्रह्म की दृढ़ ज्ञान है ना यही है ज्ञान है ना परमाशिना का अहम ब्रह्म की दृढ़ ज्ञान है ना उत्तम संसार वृक्षण छित्वा छित्वा वित्वा चैत्याया इस दृढ़ ज्ञान के द्वारा अहम ब्रह्म इस दृढ़ ज्ञान के द्वारा संसार वृक्षों को काट करके यही अर्थ छित्वा अब प्रतिबंधक नहीं रहेगा उस स्थिति में संसार से काट दिया क्यों दृढ़ ज्ञान है हम ब्रह्म दृढ़ ज्ञान होने से प्रतिबंधक कोई है ही नहीं अब ये संसार को काटकर प्रतिबंधक का भाव आता प्रतिबंधक नहीं रहा कोई होने से आत्मनिष्ठ हो अब आत्मनिष्ठ हो जाता उस काल में क्या होगा और शरीर निष्ठ नहीं रहेगा हम ब्रह्मा इस बात में है वो आत्मनिष्ठ हो पुनरावृत्ति रहितम कैवल्यम प्राप्त होती है फिर पुनरावृत्ति रहित कैवल्य अकेला हो जाना केवल से भाव कैवल्यम पुनरावृत्ति रहित कैवल्य भाव को प्राप्त कर जाता है किसके द्वारा इस बन को छेदन करके भेदन करके मान परम ज्ञान के द्वारा दृढ़ ज्ञान के द्वारा उसके बाद आत्मा में निष्ठा प्राप्त करके संसार में नहीं पुनरावृत्ति नहीं होती बने फिर शरीर आदि ग्रहण नहीं करता यह अर्थ हुआ इसका केवल ऊर्धम मूलम का अर्थ अभी तक करते रहे अब अधस शाखा का अर्थ करता है मूल में जैसे आया ऊर्ध मूलम अधस शाखम यह है तद ब्रह्मणम छिप्वा इत्यादि आया था अधशाखम इत्यत व्याचसिक अधशाखम शब्द है आगे ऊर्धमूलम अधशाखम अव्यक्तम प्रावृत्य अस्वत्तम अश्वत्तम प्रावृत्य अधशाखम का अर्थभाषिकार कहते हैं महत इत्यादि शब्द कहेंगे तम ऊर्धमूलम द्वितीयांत है ऊर्धमूलम जैसे ऊर्धमूल वाला जो संसार है ऐसे जो वृक्ष है तम ऊर्धमूलम वृक्षम संसार वृक्षम द्वितीयांत है तम ऊर्धमूलम संसार मायामयम संसार कैसा है वृक्ष कैसा मायामय वृक्ष है आए नहीं घासना है जैसे मरुभूमि में जल नहीं होता जल दिखना है संसार नहीं है हाँ, वो तो सुसुप्त में मिलना चाहिए संसार वास्तव में हो तो सुसुप्त में नहीं है तो आगे समाज में कहां से होगा संसार ये जागृत स्वप्न में है संसार ये दो में दो ही अवस्था में है जब सुसुप्ति संसारी अवस्था है फिर भी नहीं होगा संसार स्थिति है कम ऊर्धमूलम संसार मायामयम संसार मायामय जो तो संसार वृक्षम संसार वृक्ष है मायामय है कल्पना है वृक्षम आधा साधम ऐसा जो वृक्ष है ऊपर मूल वाला है मानी ईश्वर इसका मूल कारण है और अधस शाखम शाखा वाला है ये कहना है महद अहंकार तन्मात्रादय शाखा एवं अश्य अधो भगवती कहते हैं इस संसार वृक्ष का मूल ऊपर है परमात्मा है और अदशा का अर्थ महत्त्व तो उसके नीचे है प्रथम कार्य हो उसके बाद में अहंकार उसके बाद तन्मात्रा पंचतन मात्रा फिर इंद्रियादि एकादश इंद्रिया फिर विषय ऐसा नीचे नीचे शाखा वाला है यह संसार वृक्ष ये कहा महद अहंकार तन्मात्रा दे शाखा ही वह शाखा तो नहीं शाखा जैसे है जैसे वृक्ष की शाखा होते है उस प्रकार की शाखा है किंतु वृक्ष की शाखा ऊपर होती है जड़ नीचे होता है इसमें उल्टा है ऊपर जड़ है परमात्मा जड़ है और ये शाखा नीचे नीचे महतत्वादि जो पर बोले नीचे नीचे है यही है शाखा अश्य अधोह इस संसार में अधो भवंती ये नीचे होते हैं शाखा आदि इसलिए अधस शाखा का स्वयं अधस शाखा तम वही उसी को अधस शाखा बोल जाएगा प्रथमा द्वितीय बजे अधस शाखा इस संसार वृक्ष है आगे अश्वत्तम शब्द उसका अर्थ किया न सोपी स्थाता कल भी रहने की संभावना नहीं है स्था धातु है ना हाँ। लुट लगा में थाता बना हुआ है कल भी नहीं रहेगा निश्चय नहीं कल तक रहे संसार संसार भी न थाता यदि अश्वत्थम अश्वत्थ उसको अश्वत्थ का तम अश्वत्थम यही होगा अंत है सब क्षण प्रध्वंसन कहते हैं सबके सब प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहे संसार सर्वे भावाचरण परिणाम हृदय चित सकते ऐसा यास को मैंने कहा हुआ है कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है प्रत्यक्षण में बदलाव है प्रत्यक्षण बदलता है नष्ट होता रहता है नया नया उत्पन्न होता रहता है हमारा शरीर जिस समय उत्पन्न हुआ वही शरीर वही शरीर बोलते वही शरीर नहीं है इतना लंबा चौड़ा कैसे होगा छोटा सा था तो उस समय में बढ़ता गया बढ़ता गया मैं पहले वाले अब चल जाते रहे दूसरे दूसरे आते रहे इसमें चलते चलते फिर एक धूरी पर पहुंचा एक सीमा पर उसके बाद फिर अधोगति होने लग गई इसकी फिर क्षीण होते गया स्वयं ऐसा बोला जाता है केवल ये सादृश्य के कारण बोला जाता है वास्तव में नहीं है जैसे स्वयं दीपक कलिका बोलते हैं ये दीप की शिखा वही है जो प्रातः काल देखा वही शिखा है या वो तो कट गई कटती जा रही प्रतिक्षण कट रही है नीचे से नया नया उत्पन्न हो रही है स्वयं गंगाधारा बोलते हैं जलधारा वही धारा है वो नहीं सुबह जिसने नहाया होगा जिस धारा में वो धारा कहां पहुंच गया अभी ठीक इस प्रकार है संसार ये कहा है क्षण प्रध्वंसनम कहा प्रत्येक नाश की ओर है ये नष्ट हो रहा है ऐसा जो संसार अध शाखा है संसार अध नीचे शाखा वाला अश्वत्थम प्राहु कथा इंतिका अश्वत्थम प्राहु अभ्य प्राहु मैंने कथयंती लोग कहते हैं ऐसा प्रागु शब्द का तो कथन करते हैं प्रथम पुरुष है ऐसा लोग बोलते हैं हाँ। इस वेदार्थ व्यक्ता जो होंगे व्यक्ता ऐसा कहते हैं संसार पृष्ठ को ऐसा मानते हैं उर्दू मूलम अदस्ताकम अश्वत्थम प्राहु ठीक है कहते हैं महत महत महत अहंकार तन्मात्रादय का था शाखा था तो आदि शब्द नाम तन्मात्रादय में आदि है आदि शब्द में इंद्रियादि संग्रह तन्मात्रा के बाद क्या होना इंद्रिया है एकादश इंद्रिया और पंच विषय चौबीस तत्व गिनते हैं सांख्य लोग वही संसार वृक्ष से अति चंचल तो प्रमाण महा संसार वृक्ष अति चंचल है कल तक भी रहने की कोई गारंटी नहीं इसकी ऐसा है इसमें प्रमाण दिया प्राहु करके कहा कौन तो वेदार्थ वेदता कहते हैं वेद के अर्थ को जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं करके प्राहु कहते हैं कहा आगे टीका में क्षणदोषिनो अव्ययत्म विरुद्धम प्राहुर अव्ययम कहा हुआ है और आपने भाष्य में लिख दिया प्रत्यक्षण नाश होने वाले संसार वृक्ष ऐसा बोला नष्ट होता रहता है माने सादृश्य के पल वही जैसा लगता है वो नहीं प्रातकाल वाला संसार अभी चला गया दूसरे संसार आ गया स्थिति ऐसी है बदलता रहता है तो यास को मैंने कहा सर्वे भावाक्षर सर्वे जितने भी पदार्थ हैं सब प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं हृदय चित्त शक्ति चेतन शक्ति को छोड़कर चेतन शक्ति बदलती नहीं बाकी सब बदल प्रत्यक्षण बदलते हैं सारे के सारे पदार्थ ऐसी स्थिति है तो क्षण प्रत्यक्षण अव्ययत्व विरुद्धम यदि प्रत्यक्षण नष्ट होने वाले हैं तो फिर अव्यय कैसे बदल प्राहुर अव्ययम कहा हुआ है श्लोक में अविनाशी कहा हुआ है संसार को तो क्षण प्रत्यक्षण नष्ट होने वाले को अव्यय शब्द कैसे बोल दिया न बेटी अव्यय जिसका नाश नहीं होता उसको अव्यय कहा जाता है तो कैसे ये विरुद्ध बोला शंका आगे तो कहा संसार इत्यादि कहा था भाष्य में था आगे अव्ययम मन संसार माया मयम अनादिकाल प्रवृत्तत्व स्वयं संसार वृक्षो अव्ययो अनादि अनंत देहादि संतानाश्रयो ही सुप्रसिद्ध तम अव्ययम कहा अव्ययम शब्द आया आगे प्राहुर अव्ययम अव्ययम का अर्थ करते हैं संसार जो है ना संसार मायामयम अनादिकाल प्रवृत्त मायामय है संसार माया ही माया है और कुछ नहीं यहां संसार माया प्रचुर है इसमें मायामय अनादिकाल अनादिकाल से प्रवृत्त है कब से चल पड़ा पता नहीं है अनादिकाल से प्रवृत्त होने से स्वयं संसार वृक्ष वही संसार वृक्ष को अव्यय बोल दिया अनादिकाल से चल रहा है इसलिए अव्यय बोला हुआ है और अनादि मात्र में अनादि अनंत देहादि संतान शरीर कहते ये देह कब से हुए पता है आपको देह की परंपरा कब से चली यह शरीर तो अभी उत्पन्न हुआ है चंदो इस परंपरा कब से चली काल से है और कब तक रहेंगे परंपरा अनंत काल तक ये शरीर नष्ट होगा ठीक है किंतु आगे शरीर आते रहेंगे अनादि अनंत काल तक संबंध रखने वाले शरीरों तो का आश्रय होता है संसार शरीर की धारा कौन से संतान वाली धारा शरीर तो अनादि नहीं है शादी है अंत वाला भी है किंतु परंपरा धारा अनादि है एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद अनादिकाल से चल रहा है कब से चल रहा पता नहीं कब तक ये सब धारा चलती रही पता नहीं यही है इसलिए अव्यय कहा हुआ है कहते अव्यय कहा अनादि अनंत देहादि संतान रहा अनादिकाल से अनंत काल तक देहादि चलते चल चलते रहे चलते रहेंगे अभाव नहीं होगा कोई मुक्त हो गया तो संसार का अभाव उसी के लिए होगा बाकी लिए नहीं होगा जैसे दस आदमी स्वप्न में पड़े थे दस आदमी स्वप्न देख रहे थे उनमें से एक की निद्रा जग गई टूटी जगह तो उसी के लिए स्वप्न चला गया बाकी के लिए स्वप्न है ऐसे यहां भी जो ज्ञान यदि ज्ञान प्राप्त कर लेगा अपना ज्ञान तो उसके लिए तो संसार नहीं रहेगा बाकी जो संसार है बाकी जितने जीवों उनके संसार चलता रहेगा अनादि अनंत है ये संसार धारा अनादि अंत यदि भी शादी है अंतवान है नाशवान है फिर भी धारा परंपरा अनादि अनंत है अनादि अनंत देहादि संतानाश्रय कहा अनादि अनंत देहादि का संतान मन जो धारा है परंपरा है उसका आश्रय है संसार सुप्रसिद्ध संसार प्रसिद्ध है अनादि अनंत जो शरीरों की धारा परंपरा है उसके उसके धारा के आश्रय प्रसिद्ध है सुप्रसिद्ध है तम अव्यय से अव्यय कहा गया इसको तस्व संसार वृक्ष से इधम अन्य विशेषण अन्य विशेषण भी है इसका छंदांशी ऐसे परिणामी यही है ये कर्मकांड रूपी जो वेद हैं तीनों वेद ऋग यजु शाम कर्मकांड भाग जितने हैं वहां वो इसके पत्ते हैं इस संसार वृक्ष की रक्षा करने वाले पत्ते वही होते हैं ये कहा हुआ है छंदांशेष प्रदान करते तस्य तो संसार वृक्ष से इदम विशेषण अन्य विशेष अन्य दूसरा विशेषण भी इसका है क्या है ही इससे पत्राणी छद्री आच्छादन धातु है ढगने अर्थ में छत धातु का प्रयोग होता है छत अपवार है ढगने अर्थ में होता है छत धातु चुरादि का है छंदांशी ऐसे प्रणाली का है वेद छंद माने वेद यहां वेद जिसके पत्ते हैं छादना क्यों छादना छंद आच्छादन करते हैं ही को ढकने वाले होते हैं इसलिए छंद का ऋगज साम लक्षणानी जिनके तीन नाम है ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद बोलते हैं जो कर्म कर्म पर है ज्ञान कांड नहीं कर्मकांड भाग यही है संसार वृक्ष को रक्षा करने वाले कर्मकांड भाग होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनमें लक्षणानी यश संसार जिसके संसार वृक्ष है वेद जिसके पत्ते हैं संसार वृक्ष के संसार वृक्ष को रक्षा करने वाले कर्मकांड होते हैं ये करो वो करो कर्म करेगा स्वर्ग आदि प्राप्त होगा फिर पाप करेगा नरक आदि होगा भोगेगा आएगा चलता रहेगा संसार छंदांश से परवानी का ऐसे संसार वृक्ष छंदा में परवानी पत्ते जैसे जैसे पत्ते का इनको पर्ण वाले पत्ता होता है पत्ते के समान से पत्ता का इनको जो कर्मकांड पर वेद संसार वृक्ष रक्षक है पत्ते के समान है यथा वृक्ष से परिरक्षा परिरक्षणार्थानी पराणी जैसे वृक्ष के रक्षण करने वाले कौन है रक्षा करने वाले पत्ते होते हैं ठीक इसी प्रकार है तथा वेद जो कर्मकांड रूपी वेद हैं ऋग्यतिशाम संसार वृक्ष परिरक्षणार्था का संसार वृक्ष की रक्षा के लिए है क्यों कैसे रक्षा करते का धर्म अधर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थत्वात करें धर्म अधर्म का प्रकाश करते हैं ये वेद ये करो धर्म होगा ये करो पाप होगा उसका कारण बताएंगे धर्म कैसे होगा पाप कैसे होगा धर्म के साधन पाप के साधन हिंसा आदि यज्ञ आदि जो बताएंगे धर्म अधर्म उसके हेतु साधन यही इसी को प्रकाश करते हैं ये कर्मकांड रूपी व्यक्ति किसको प्रकाश करते हैं धर्माधर्म उसके कारण यज्ञ आदि है अथवा हिंसा आदि है इनका प्रकाश करते हैं इसलिए उनके संसार दृश्य बढ़ता रहेगा इससे रक्षा होती रहेगी यथा व्याख्या तुम संसार वृक्षम समूलम यस्तम वेद कहा यस्तम वेद सवेद वेद है आगे संदाम जैसे पढ़ाने यस्तम वेद सवेद जिस प्रकार व्याख्या की गई संसार वृक्ष की उस संसार वृक्ष को मूल के सहित जो जानता हो मूल क्या है परमात्मा दोनों को जानता हो मूल के सहित संसार वृक्ष को जानता हो जो व्यक्ति यही है यथा व्याख्या तुम जिस प्रकार व्याख्या की गई यहां संसार वृक्ष की संसार वृक्षम मूलम समूलम केवल संसार वृक्ष नहीं मूल के सहित मूले सहितम समूलम मूल के सहित यस्तम वेदविद कहा जो इसको जानता हो वही यस्तम वेद सवेद जो इस संसार वृक्ष को मूल के सहित जानता हो यस्तम वेद जो जानता हो सवेदविद वेद का अर्थ जानने वाला वही है वेदवेदता वही है सब कहा माने वेद वेद के विषय को जानने वाला वही होता है संसार वृक्ष को मूल के से जो जानता हो ना उसी को वेदविद कहा हुआ है वेद का विषय को जानने वाला नई संसार वृक्षात अस्मात समूलाद गयो अन्यो अणुमात्र व्यवशिष्टो अस्थि ये कहते देखो संसार वृक्ष मूल के से संसार वृक्ष से अन्य कोई जानने वाला कोई शेष रहता नहीं है अणुमात्र भी एक दिन का भी नहीं रहेगा मूल हो गया परमात्मा असंसार मूल के से संसार वृक्ष जो समझेगा तो इससे अतिरिक्त जानने होगी दो ही पदार्थ जानना है मूल कैसे संसार वृक्ष ही जानना है अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं बचता ये कहते नहीं ये कहा नहीं संसार वृक्षात अस्मात संसार वृक्ष अभी चल रहा तो संसार वृक्ष की चर्चा हो रही है संसार वृक्ष से समूला मूल के सहित ज्ञेय जो जानने योग्य वस्तु अन्यो अन्य वस्तु ज्ञेय अणुमात्रों भी अवशिष्टो नास्ती पूर्व नकार है अणुमात्र भी नहीं तिल के समान भी नहीं है एक टुकड़ा भी नहीं कोई जानने योग्य यही है बस मूल के संसार पुरुष को जाना जाए संसार पुरुष को जानने से खो जाएगा जब तक नहीं जानते तब तक रहेगा और मूल रहेगा वही मूल में जाके बैठना होता है इसको जानने माने इसको खोना है जानने माने खोना क्यों रज्जु के जो सर्प है उसको ठीक ठीक समझेंगे तो खो जाएगा ठीक समझ पर रस्सी मिलेगी क्या मिलेगी वो खो गए उसका स्वर्प है नहीं ये तो अज्ञान काल में जीवित है संसार ज्ञान काल में नहीं होता कल्पित पदार्थ जो होते हैं अज्ञान काल में जीवित होते हैं अतः इसलिए सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ होगा ये इतने दो दो दो को जानने वाला कौन क्यों जानने वाला मूल जैसे संसार को देखो जो जानता वो सर्वज्ञ हो जाता है अब बाकी जानना कुछ बचा ही नहीं सर्वज्ञ स सर्वज्ञ जो वेदार्थविद जो वेद का वेदता वही है सर्वज्ञ होता है वेद का वेदता वही होता है समूल वृक्ष ज्ञान होती है मूल के सहित जो संसार वृक्ष के जो ज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं मूल के सहित मूल है परमात्मा परमात्मा के सहित संसार वृक्ष के स्तुति कर प्रशंसा करते इसलिए संसार वृक्ष कोना है और परमात्मा बचाना है ये स्थिति होती है ये कहा है ठीक है कहते हैं संसार वृक्ष का ही सिद्धि करते तदेव उपवाद उसी की सिद्धि करते हैं आगे सही अनादि अनंत कहा था संसार अनंत अनादि अनंत देहादि संतान आश्रय कहा जो अनादि काल से देह परंपरा चल रही है अनंत काल तक रहेगी है ज्ञानी हो गया तो जिसको ज्ञान हो गया उसी को समाप्त होना बाकी का समाप्त नहीं होगा चलते रहेंगे धारा चलते रहेंगे शरीर शादी है नाशवान है किंतु परंपरा आदि है यही है अनादि अनंत देहादि संतान आश्रय का था अनादि अनंत देहादि है उनके परंपरा का आश्रय है ये संसार वृक्ष ये कहा था आगे छंदांशेष पौराणिक कहा हुआ है वेद जिसके पत्ते हैं कहा हुआ है छंद मान वेद वेद जिसके पत्ते हैं कर्मकांड पर वेद शाम तीनों में है कर्मकांड भाग वो पत्ते हैं कहा था छादन मन रक्षणम छंद मन छादन ढकने वाले संसार वृष्टि के जो दोष आदि को ढक देते हैं संसार को अच्छा लगता है लोगों को आच्छादन कर देते हैं साधन मन रक्षा रक्षा करने वाले प्रावरण वही है आच्छादन को प्रावरण बोलते ढकना आवरण करना हाँ कर्मकांड आने कौन सा भेद लेना कर्मकांड भाग वेद वही ऋग जो सामने जो कर्मकांड पर भाव है कर्मकांड आनी खलु आरोह अवरोह फल आने कर्मकांड भाग का फल क्या होता है ऊपर चढ़ना और नीचे आना आरोह और अवरोह कर्म आदि करके स्वर्ग आदि जाओ फिर से जाओ इत्यादि नाना अर्थवाद युक्तानी नाना प्रकार के अर्थवाद जो होना ये केवल प्रशंसा में कई बात है अर्थवाद निंदा स्तुति में है ये सब युक्त है जो वेद संसार वृक्षम रक्षंती ऐसे वेद जो होते कर्मकांड भाग जिसका फल होता है ऊपर जाना और नीचे आना स्वर्ग आदि जाना पुण्य कर्म करके नीचे आना और नाना प्रकार का अर्थवाद जुड़ा हुआ है अपाम असोम अमृता अभूप अभूप ऐसा ऐसा हमने तो माने सोमरस पी लिया यज्ञ कर लिया सोमरस पिया हमने यज्ञ कर लिया अब हम अमर हो गए अथवा इत्यादि इस प्रकार संसार वृक्षम थी संसार वृक्ष की रक्षा करते हैं कौन ये वेद कर्मकांड पर वेद तन तनिष्ठम दोषम संसार वृक्ष में तो दोष है दोषी दोष भरा हुआ है किंतु उसको ढक देते हैं वेद कर्मकांड पर वेद तनिष्ठम तो दोषम है संसार वृक्ष जो दोष है उसको दोषम से दे दोष को आवरण कर देते हैं आच्छादन कर देते हैं तेरा इसी हेतु से कहा तान छंदांशी परलानी भगवती इसलिए छंद हमारे वेद है कर्मकांड परिवर्त पत्ते के समान होते हैं यह है छंदांशी स्पर्णन का यही है कहा तदेव उसी कहते यथा इत्यादि है यथा वृक्ष से परिरक्षणार्थानी पर्णानी कहा था जैसे लौकिक वृक्ष होते हैं ना उसमें रक्षा के लिए पत्ते होते हैं ठीक इसी प्रकार तथा वेदा संसार वृक्ष परिणार्था कहा था इसलिए वेद भी वो कर्मकांड पर वेद है संसार वृक्ष के रक्षण के लिए कैसे धर्माधर्म तदेत फल प्रकाश क्या है कर्मकांड भाग क्या काम करते हैं वेद के धर्म अधर्म को प्रकाश करते हैं बताते हैं उसके कारण को बताते हैं धर्म किससे होगा अधर्म किससे होगा यही है उगते अर्थ हेतु हेतु कहते हैं धर्माधर्मादि यही इसे प्रकाश करते हैं धर्माधर्म उसके कारण को प्रकाश करते हैं ये कर्मकांड वेद यही है कर्मकांडानाम वेदान विशेषण ये धर्माधर्म का और प्रकाश कौन करते हैं जो कर्मकांड पर वेद है धर्माधर्म और उस हेतु का प्रकाशन में लगे हुए होते हैं कहा कर्म मान ब्रह्माख्य <clears throat> सर्व वेदार्थ कर्म कर्म को ब्रह्म कहा जाता है कर्मना कर्म मन वेद वही है कर्म ब्रह्माख्य सर्व वेदार्थ से तत्र अंतर्भाव होते तो जो कर्मकांड रूपी वेद है ब्रह्म मन वेद कर्मकांड भाग वेद को कर्म कर्म ब्रह्म बोला जाता है क्या बोला जाता है ब्रह्म मन वेद जो कर्मकांड भाग रूपी वेद को कर्म ब्रह्म बोला है कर्म ब्रह्माख्य से जो कर्मकांड भाग वेद है ना उसका उसका वेद का जो अर्थ होगा <clears throat> तत्र अंतर्भाव तो उसी में अंतर्भाव है धर्मा धर्मादि में अंतर्भाव है अन्य कुछ नहीं है प्रत्यय व्याचे वेदार्थविद कहा हुआ है वेदार्थविद वही वेद के अर्थ को जानने वाला वही है ये कहा समूल संसार वृक्ष ज्ञान है अमूलम हेतु अमूलम एवं निकृष्य ज्ञातुम सक्यम इति तद ज्ञानार्थम प्रयतितव्यम इति मत्वा तद ज्ञान स्तुतिर अत्र विवक्षता कर मूल के सहित संसार वृक्ष को ज्ञान होगा मूल के सहित हो मूल माने परमात्मा ईश्वर उसके सहित संसार पुरुष का ज्ञान होने पर क्या होगा उसमें ज्ञान होने पर अमूलम हित्व जो मूल नहीं है मूल को छोड़ करके बाकी को त्याग देना होगा मूल को छोड़ना परमात्मा को छोड़कर बाकी जो संसार भाग है उसको त्याग देना हित्व निष्कृष्य तुम मूल को पृथक करके जाना जा सकता है तुम सक्यम मूल को अलग करके जाना जा सकता है यही है इसलिए तज ज्ञानार्थम उसके जानने के लिए प्रयतित बहुत प्रयत्न करना चाहिए इति मत ऐसा मान करके तद ज्ञान स्तुति उस ज्ञान के संसार मूल के सहित संसार वृक्ष के ज्ञान की स्तुति अत्र विवक्षता कर रही विवक्षित वही है प्रशंसा है नहीं इत्यादि कहा था भाष्य में कहा था नहीं संसारात वृक्षात अस्मात जिसके प्रकरण चल रहा अस्मात संसार वृक्षादि संसार वृक्ष से समूलाद मूल के सहित ये दोनों को जानने से अतिरिक्त ज्ञान पदार्थ कोई बचता नहीं है जानने योग्य कोई शेष रहता ही नहीं ये अन्य अणुमात्र भी अवशिष्ट अस्थि का अणुमात्र भी छोटा सा भी कोई बचेगा नहीं जानने योग्य तो अतः सर्वज्ञ वही सर्वज्ञ माना जाता है वेदार्थ भी बोल दिया सर्वज्ञ वही होता है और मूल के साथ संसार कुछ को जानता हो आगे ठीक है अवैव संबंधी अपराध प्रागुता अतिरिक्त कल्पना आगे भी एक कल्पना और करते हैं पहले तो अवयवी वृक्ष को लेकर कहा था संसार वृक्ष एक अवयवी था समूह पूरे लेकर कहा अब तब तक अवयव को लेकर के भिन्न भिन्न अर्थ करते अवयव को लेकर के माने इसके शाखा और भी आ जाते ऊपर नीचे फैली हुए कहना चाहते हैं माने देवादि लोग से ऊपर मह माने कहां तक सत्य लोग तक ऊपर के शाखा नीचे मनुष्य से लेकर के नीचे पाताल तक या अधशाखा एक एक अवयव लेकर के भी शाखा बोलते हैं पहले तो समूह बोल दिया तो बोलो अध शाखा महतत्वादि लेके एक ही बोला था अब कहा जाएंगे तब तक लोक संबंधित तो चौदह भुवन बोलते हैं ना जिनको ये संसार पृष्ठ एक ही है माने चौदह मंजिल के घर का कल्पना कर दिया बेसमेंट सात हैं और ऊपर सात है जमीन के नीचे सात ऊपर सात वाला मंजिल है हाँ। उसमें नाना प्रकार के प्राणी निवास करते हैं प्रत्येक तले में भिन्न भिन्न है यही तो कल्पना होती है वहां पुराणों में ये चौदह भुवन कहते तो एक ब्रह्मांड में चौदह भुवन मानते हैं तो उनके लिए शाखा के रूप में फिर अब यहां पर लेना चाहते हैं <clears throat> ये कहना है अवय अभी तो अवयवी संबंधी कल्पना की थी किसकी अवयवी एक समूह को लेकर के कहा गया था अब अवय संबंध ने अपरा प्रागुता तो पूर्व में कही गई जो कल्पना थी संसार वृक्ष की वो तो अवयवी को लेकर के कहा हुआ था समूह को लेकर अब अवैव संबंधी नहीं दूसरी अपरा कल्पना है दूसरी कल्पना है यहां ये कहा जाता है भाष्य में कहा था तस्व संसार वृक्ष से अपरा अवय कल्पना उचित है उसी संसार वृक्ष जो पूर्व श्लोक जिसके वर्णन हुआ है उसी का दूसरे कल्पना है अवयव संबंधी नहीं कल्पना कौन सी कल्पना अवय को लेकर एक एक खंडा खंड टुकड़ा को लेकर कल्पना करके कहा जाता है उसी को ये कहना है श्लोक है अदस्ोर्धम प्रसृता तस् शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रबाल अदस्मूलानुसंतता कर्मानुबंधीन मनुष्यलोके अदस्ोर्धम प्रसृता तस् गुणा प्रवृद्धा विषय प्रबाल अनशमूलानुसन्ततानि मनुष्य मनुष्यलोके तस्य संसार वृक्ष से शाखा तस्य शाखा उस संसार वृक्ष जो पूर्व में कल्पना हुई है उसकी जो शाखा है अधस्थ ऊर्ध्वस्थ प्रसिद्धा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फैली हुई है प्रसिद्धा निर्गता निश्चितता फैली हुई है शाखा ऊपर और अलग कहां से लेंगे देवादि की अपेक्षा ऊपर और मनुष्य आदि की अपेक्षा नीचे अदा माने अतल सुतल तला तल रसातल महातल पातल ये अदा और ऊपर होंगे महाजन तपसत्य आदि देवलोक से ऊपर स्वर्ग से ऊपर इत्यादि शाखा फैली हुई है संसार के विषय कहते हैं अदस्य ऊर्धम चाहिए नीचे और ऊपर देवादि की अपेक्षा नीचे मनुष्य आदि की अपेक्षा नीचे देवादि की अपेक्षा ऊपर ठीक है ऊपर फैली हुई देवलोक से लेकर ऊपर को कहना मनुष्य लोग से नीचे कहना दो तरफ विवाह करके लेना शाखा उसकी संसार विषय शाखा फैली हुई है कहते हैं गुण प्रवृद्धा तीन गुण के द्वारा बड़ी जड़ी है शाखा है सतगुण रजगुण तमगुण जिसमें जैसे आए तब कार्य उस गुण का कार्य करेगा उस कार्य से इन शाखाओं की वृद्धि होगी स्वर्ग आदि की वृद्धि होती रहती है अदस्व उदम अदस्व उदम चाहे नीचे और ऊपर दोनों तरफ नीचे बने देव देवलोक से नीचे लेना और ऊपर लेना ऊर्जा बना ऊपर एक भुवन करके कल्पना की है चौदह भुवन उसकी कल्पना है पृष्ठात संसार वृक्ष से शाखा संसार वृक्ष से शाखा नीचे और ऊपर दोनों तरफ फैली हुई है कहते हैं गुणा प्रवृद्धा कहते हैं गुणों से विशेष रूप से बड़ी चढ़ी है ये बड़ी चढ़ी शाखाएं हैं तीनों गुणों के द्वारा सतुगुण रजगुण तमुगुण जैसे गुण आएंगे उस प्रकार कार्य करेगा कार्य करने से शाखा बढ़ती रहेगी कभी पशु आदि योनि में जाना है कभी स्वर्ग आदि जाना है बढ़ती रहेगी विषय प्रबाला पांच विषय इसके कोपले हैं कहते हैं कोपल जहां से पत्ते निकलते हैं ना छोटे छोटे जो मंजरी अवस्था में तो उसको कहते हैं प्रबाल बोलते हैं लाल लाल पना जो पत्तों में जो लालिमा शुरू हो जाते छोटे छोटे तो उसको कहते प्रवाल तो विषय है प्रवाल पंच विषय इसके प्रवाल है कोपले है वृक्ष की शाखा से निकलना है प्रवाल को पत्तों के निकलना है पत्ते बनना है पत्ते बनने की पूर्व अवस्था है वो ठीक है शरीर आदि से निकलते हैं विषय प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न के विषय निकल रहे कोई शब्द में पड़ा है कोई रस में पड़ा है कोई रूप में पड़ा है ऐसी स्थिति है अदस्य मूलानी अनुसंधानी नीचे की तरफ ये जड़ गड़े हुए हैं इसके कहते हैं नीचे की तरफ कहा मनुष्य लोक में इसका जड़ मजबूत है वासना में जड़ संस्कार कर्म का संस्कार यही है मनुष्य लोक में है यही जड़ है यहां अदस्य मूलानी अनुसंतानी अनुप्रविष्टानी अर्थ होगा नीचे के तरफ अधवा नीचे कहा देवादि की अपेक्षा नीचे जो मनुष्य लोग हैं ये नीचे है मूल माने जड़ होते हैं इसके एक मूल तो पहले बता दिया उर्दू बोल वाला है परमात्मा बोल वाला है कहा था वो तो नीचे भी बोला है या कर्म होते रहते कर्म से क्या होगा संस्कार बनता है वासना वासना से कर्म कर्म से वासना चलता रहे मनुष्य लोग की बात है अनुसंधानी अनुप्रविष्टानी जड़ इसके नीचे भी है केवल ऊपर कहीं उर्दू मूल तो है ही है संसार वृक्ष किंतु संसार वृक्ष नीचे भी जड़ है ऐसा ऐसा वृक्ष है हम्म, मनुष्य लोग इसका जड़ माना जाता है संसार पुरुष का ये कर्म होते रहते हैं संस्कार बनता रहता है कर्म ने मनुष्य लोग कहा ये जो वासना है ना कर्म के पीछे होते हैं कर्म किया तो वासना बनी वासना से फिर कर्म कर्म से वासना संस्कार संस्कार से कर्म चलता रहता है कहा नीचे के तरफ मानी मनुष्य लोग में देवादि की अपेक्षा नीचे है ये मनुष्य लोग में ऐसा चलता है ये मनुष्य लोग में ये नीचे वाली जड़ कहां है मनुष्य लोग में कर्म और संस्कार को लेकर के राग आदि आ जाते हैं कर्म के आधार पर फिर संस्कार बनेगा राग आदि के संस्कार से फिर कर्म करेगा उसी प्रकार कर्म करेगा स्वर्ग में राग है नर्ग आदि में द्वेष है वैसे कर्म फिर राग होगा संस्कार बनेगा संस्कार से कर्म करेगा चलता रहेगा जड़ है कहा समय हो गया है यही रखते हैं फिर करेंगे भाष्य टीका ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पुरस्या